सूरदास विरह पदावली परस्पर नंद यशोदा वचन चूक परिहर की सेवकाई यह पराध कहाँ लो पर कहीं कहीं नंद महर पछताई चूक परिहर की सेवकाई यह अपराध कहा लो बर्ण कही कही नंद महर पछताई कोमल चरण कमल कंटक कुश कोमल चरण कमल कंटक कुश हऊन पे बन गाय चराई रंचक दध के काज जसोदा बांधे कान लाई इंद्र प्रकोप जान ब्रज राखे वरुण फांसे तय मोश मुस्काई अपने तन धन लोभ कस डर आगे कह दिन दो तो भाई निकट बसत कबहू न मिलियायो निकट बसत कबहू न मिलियायो इतमान मेरी निठुराई सूर अजहुना तो मानत है प्रेम सहित करे नंद दुहाई सूरदास जी के शब्दों में नंदराय जी कहते हैं हमसे श्याम सुंदर की सेवा में बहुत त्रुटियां हुई इस अपराध का कहाँ तक वर्णन करूं बार बार यो कहकर ब्रजराज नंद जी पश्चाताप करते हैं उनके चरण कमल के समान सुकुमार थे फिर भी हमने कांटों और कुशों से युक्त वन में उनसे गायें चरवाई तनिक से दही के लिए यशोदा ने कन्हैया को उखल से लाकर बांध दिया उन्होंने तो इंद्र को अत्यंत क्रुद्ध जानकर गोवर्धन उठाकर व्रज की रक्षा की और मुझे वरुण के पास से छुड़ाया किंतु मैंने अपने शरीर तथा धन के लोभ के कारण कंस के भय से उन दोनों भाइयों को आगे कर दिया वे पास ही मथुरा में रहते हैं किंतु मैं वहां जाकर कभी उनसे मिलकर नहीं आया मेरी निष्ठुरता तो इस परिमाण की है उधर उनकी बात यह है कि अब भी वे हमसे संबंध मानते हैं और अवसर आने पर प्रेम पूर्वक बाबा नंद की मेरी शपथ ही करते खाते हैं मुझे ही अपना पिता मानते हैं हरि की एक बात न जानी हर की एक बात न जानी हर की एक बात न जानी कहो कंत कह तजो श्याम को कहत बिकल नंद रानी हर की एक बात न जानी अब ब्रज सून भयो गिरधर बिन अब ब्रज सून भयो गिरधर बिन गोकुल मन बिलगानी हर की एको भात न जानी दशरथ पान तजो छिन भीतर दशरथ प्राण तजो छिन भीतर बिछुरत सारंग पायली ठाढ़ी रहे ठगोरी डारी बोलत गद गद बानी सूरदास प्रभु गोकुल तज गए मथुरा ही मन मायनी हर की एक बात न जानी हर की एक बात न जान सूरदास जी के शब्दों में व्याकुल होकर श्री नंदरानी कहती है ब्रजराज मुझे श्याम सुंदर का एक भी समाचार नहीं मिला स्वामी बताओ तो कि तुमने श्याम सुंदर को कहाँ छोड़ा अब गिरधर लाल के बिना ब्रज सुना हो गया गोकुल की मणि उससे पृथक हो गई सारंग पाणी विष्णु रूप श्री राम का वियोग होने पर महाराज दशरथ ने तो एक क्षण में प्राण त्याग दिया था वे इस प्रकार खड़ी रहती हैं जैसे किसी ने उनके सिर कुछ जादू डाल दिया हो और गदगद स्वर में कहती हैं हमारे स्वामी गोकुल को छोड़कर चले गए अब मथुरा ही उनको प्रिय लगती है ले आवहु गोकुल गोपाल हैं लय गोकुल गोपाल पाइन परी क्यों हो बिनती करी छल बल बाहु विशाल लय गोकुल दिखरावहु अब की बार नैक दिखरावहु नंदयापने लालही गायन गणत ग्वार गोसुत संग गायन गणत ग्वार गोसुत संग सिखवत बैनर साली सिखवत बैन रही यद्यपि महाराज सुख संपत्ति यद्यपि महाराज सुख संपत्ति कौन गणे मनिलाल ही तदपि सूर वे छिन्न तजत है तदपि सूरवे छीनन तजत है वाघुंगची की मही लया बहु गोकुल गोपाल सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदानंद जी से कहती हैं ब्रजराज पैरों पड़कर प्रार्थना करके अथवा छल बल से किसी तरह उन विशाल भुजाओं वाले गोपाल को गोकुल ले आओ नंद जी इस बार अपने लाल का तनिक सा दर्शन करा दो वे यहाँ गोकुल कुमारों गोप कुमारों के साथ गायों तथा बछड़ों को गिना करते थे और रसपूर्वक मधुरवाणी में बोलना सखाओं को सिखलाते थे यद्यपि अब वे मथुरा में महाराज हैं और वहाँ की सुख संपत्ति तथा मड़ियों एवं लालों की गिनती कौन कर सकता है फिर भी वे यहाँ से गई उस गुंजा की माला को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते सराहो तेरो नंद सराहो तेरो नंद मोहन सौसुत छाड़ी मधुपुरी गोकुलयान जियो सराहो तेरो नंद कहाँ कहो मेरे लाल लड़े ते जब तुम विदा किया जीवन प्राण हमारे ब्रज को जीवन प्राण हमारे ब्रज को वसुद्यो छीन लियो सराहो तेरो नंदो सराहो तेरो नंदो कहो पुकार पार पचिहारी बरजत गमन कियो सूरदास प्रभु श्यामलाल धन सूरदास प्रभु श्यामलाल धन लय पर हाथ दियो सरा तेरो नन्दशियो सराहो तेरो नन्दशियो सूरदास जी के शब्दों में श्री यशोदा जी कह रही हैं नंद जी तुम्हारे हृदय की कठोरता की मैं प्रशंसा करती हूँ मोहन जैसे पुत्र को मथुरा छोड़कर गोकुल में आकर जी रहे हो मेरे दुलारे लाल ने जब तुमको विदा किया तब क्या कहा हमारे और ब्रज के उस प्राण जीवन को अब वसुदेव ने छीन लिया जाते समय मैं पुकार पुकार कर कहती हुई थक गई किंतु रोकने पर भी वे मथुरा ले गए और वहाँ व्रज के स्वामी मेरे श्याम लाल रूप धन को दूसरे के हाथ में दे दिया यद्यपि मन समुझावत लोग यद्यपि मन समुझावत लोग सूलहोत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग यद्यपि समझावत लोग शिबा सरछती लाऊं बालक लीला गाऊं वैसे भाग बहुरी कब हुई है वैसे भाग बहुरी कब हुई है मोहन मोद खवाऊं जा मुनि ध्यान धरे शिव अंग विभूति लगावे सो बालक लीलाधरि गोकुल उखल साथ बंधावे विदरत नाही वज्र की हृदय विदरत नाही वज्र को हृदय हरि वियोग क्यों है सूरदास प्रभु कमल नयन बिन कोने विधि ब्रज रही है कोने विधि ब्रज रही है सूरदास जी के शब्दों में श्री यशोदा जी कहती हैं यद्यपि लोग मेरे मन को समझाते सांत्वना देते हैं फिर भी मेरे मोहन के मुख श्याम के खाने योग्य ताजा मक्खन देखकर मुझे वेदना होती है रात दिन उसे मैं लेकर हृदय से लगाए रहती थी और उसकी बाल लीला का गान करती थी अब वैसा भाग्य फिर कब होगा जब मोहन को आनंद पूर्वक खिलाऊंगी जिन्हें पाने के लिए मुनिगण ध्यान किया करते हैं और शंकर जी शरीर में विभूति लगाते हैं उन्होंने ही लीला से बालक रूप धारण कर गोकुल में अपने को उखल से बंधवाया मेरा हृदय बद्र का है जो फट नहीं जाता भला श्याम सुंदर का वियोग कैसे सहा जा सकता है कमल लोचन प्रभु के बिन ब्रज में अब कैसे रहा जा सकता है